मारुत सुत मारुत सुत का सुत दोनों भट जीवट वाले थे दोनों भट जीवट वाले थे कस वाले थे बल वाले थे मत वाले थे मत वाले थे कस वाले थे बल वाले थे मत वाले थे मत वाले थे कर से कर छाती से छाती माथे से माथा लड़ता था माथे से माथा लड़ता था पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाम ढूंढता था पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाम ढूंढता था जय राघव के गर्जना कर उठे हनुमान इस गर्जन से निमिष भर सहमा वह बलवान वह निमिष वह निमिष था उस क्षण जीते राघव दास मकर ध्वज मही पर गिरा गिर कर हुआ उदास बांध दिया बजरंग ने उसको वही तुरंत पुर में क्रिया प्रवेश फिर कह जय राघव चंद्र देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम नाच रहे थे असुरगण मटके चहुदिश घूम विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर जो हे कप के दिग गए रामचंद्र की ओर दोनों ही प्रभुओं को किया मन ही मन अभिवाद मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार पूजा हित था वहाँ पर विविध वस्तु भंडार काम बनाने को बढ़े काम रूप हनुमान एक फूल में छुप गए होकर मशक समान देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल मानसिक प्रार्थना के मैयाम फिर आज लाज रखने होगे सिर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी सिर चढ़ने की अवशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी सीता रूप में तुम ही सीता रूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे अति पावन मन भावन प्रसाद थे राम भक्ति का दिया मुझे माता के जिस पर दृष्टि सदा वह सुत निर्भिक खेलता है आ जाता कभी गोद में है तो कभी शेष पर चढ़ता है आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है जगदम्बा ने यहाँ भी रखे सुत की यान स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान अथवा माँ ने पुत्र को देकर भारी भार अपने ही आकार में उसको दिया उभार अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पुजाया आता है देवी स्वरूप में देवा वह मुँह फाड़ फाड़ कर खाता है राक्षस बिलोक या चमत्कार समझे देवी जी के प्रकट हुए राक्षस विलोक यह चमत्कार समझे देवी जे प्रकट हुए हाँ समझे देवी जे प्रकट हुए ले चढ़ावा हंस हंस कर साक्षात आज ही प्रकट हुई ले चढ़ावा हंस हंस कर साक्षात आज ही प्रकट हुई अभी नाच जो कर रहे थे हो हो कर उन्मत्त अब आरती करने लगे मत मदमत जय देवी माता जय देवी माता जय जय देवी माता जय देवी माता जय जय देवी माता चरण शरण जो आता चरण शरण जो आता मनवांछित पाता चरण शरण जो आता चरण शरण जो आता मनवांचित पाता जय जय देवी माता जय जय देवी माता जय जय देवी माता जय देवी माता चरण शरण जो आता चरण शरण जो आता मनवांछित पाता जय जय देवी माता जय जय देवी माता वरदायिनी हो सुखदायिनी हो कि माता हो मंगलकारिणी सकल चराचर की हो सकल चराचर की हो दुखदारिद हर ली सकल चराचर के हो सकल चराचर के हो दुख दारिद हरणी जय जय देवी माता जय देवी माता जय जय देवी माता चरण शरण जो आता चरण शरण जो आता मनवांछित पाता जय जय देवी माता जय जय देवी माता दुर्गा जया जयंती दुर्गा जया जयंती माता गौरी कल्याणी की माता गौरी कल्याणी अभिमत फल बलदात्रे अभिमत फल दलदात्रे अभिमत फल बल दात्रे देवी सर्वाणी जय जय देवी माता जय जय देवी माता जय देवी माता जय जय जय देवी माता जय जय जय देवी माता चरण शरण जो आता चरण शरण जो आता मन वांछित पाता जय जय देवी माता जय जय देवी माता जय जय देवी देवी माता जय जय जय देवी माता अहि रावण अब देख कर राम लखन की ओर हसा ठहाका मार फिर बोला वचन कठोर तुम अब तक यही जानते हो देवी के बलि को आए हैं कुछ और बात भी है कहने कुछ और बात भी कह दे किस हेत तुम्हें हम लाए हैं तुम अब तक यही जानते हो देवी के बलि को आए हैं कुछ और बात भी कह दें किस हेत तुम्हें हम लाए हैं रावण से तुमने रार ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं सिर अपने बहुत उठाए हैं वे सिर देवी के भेंट चढ़े इस हो हेत तुम्हें हम लाए हैं वे सिर देवी के भेंट चढ़े इस हेत तुम्हें हम लाए हैं अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह भारी दंड दे रहा है रावण से भिड़ने का बदला रावण आज ले रहा है रावण से भिड़ने का बदला रावण आज ले रहा है लखन लाल के युगल दृग हुए क्रोध से लाल कहा मौन हो अरे खल बजा रहा क्यों गाल सीता देवी के कारण हे रण हम रावण से करते हैं रण हम रावण से करते हैं रावण से भी क्यों यो न कहे उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं रावण से भी क्यों यो न कहे उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं तूने भी चोरी की से यह कथन सिद्ध हो जाता है चोरों का साथी निश्चय ही गठकटा सदा कहलाता है चोरों का साथी निश्चय ही गठकटा सदा कहलाता है जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा बदले के आग हृदय में है तो बल प्रदान पूजन कैसा बदले की आग हृदय में है तो बल प्रदान पूजन कैसा देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चना के भीतर छल है जब छल है तो यह अहिरावण यह असुर आप ही निर्बल है जब छल है तो यह अहिरावण यह असुर आप ही निर्बल है सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास तो क्या कोई भी असुर देन सकेगा त्रास